बाब नंबर आठ हम छः लड़के थे दो टैक्सियों में बामुश्किल हम और हमारा सामान आया टैक्सी वालों ने हमारा सामान उतारा और हमें छोड़कर वापस चले गए हम वहाँ खड़े थे कि एक होनक सी हजामत वाला लड़का हमारे पास से गुजरता गुजरता रुक गया बदकिस्मती से मैं आगे खड़ा था लड़का मुझसे मुखातिब होकर बोला which place do you disgrace जी मैंने पूछा वट इज़ जी नो जी शी हेयर वो बोला speak in English you present yes मैंने कहा यस सर वो चीख कर बोला yes sir which place you disgrace I don't understand sir वो फिर चीखा सर मैंने दोहराया I am asking you which place do you come from Shujabad sir where is that damn near Lahore sir so I am right you are an uneducated peasant मैं खामोश रहा आंसर मी वो फिर चीखा यस सर मैंने कहा yes sir what I am a peasant sir an uneducated peasant an uneducated peasant sir फिर उसने हम छह लड़कों पे हमारे काले और ब्राउन बक्सों पे जो हमने यहाँ आने से पहले अपने बाजार से नए खरीदे थे एक हकारत आमेज़ नज़र फेंकी जैसे कि वो हमें और हमारे सूट केसों को एक ही किस्म की चीज समझता हो दिस ट्रैश वो हमारे सामान की जानब इशारा करके बोला my father will lift are you father will lift अगर दुनिया में कहीं पर भी कोई और लड़का मुझसे ऐसी बात करता तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता था बात अभी उसके मुंह में होती और वह ज़मीन पे गिरा हुआ होता और मैं उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता गांव के माहौल में पल बढ़कर और कुछ नहीं तो कम से कम इतनी हिम्मत तो आ जाती है मगर उस वक्त मामला अजीबो गरीब था ये पहली बार थी कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में आया था एक दफ़ा कॉलेज के दूसरे साल हम चारों साथियों का प्रोग्राम बना था कि मरी की सैर को जाया जाए मगर आखिरी वक्त पर गुलाम हुसैन और सलीम के पास पैसे पूरे ना हो सके और प्रोग्राम ख़त्म हो गया था अब इस मुकाम पे बुलंदोबाला पहाड़ और तवीलकामत दरख्तों के जंगलात को देखकर हम पहले ही कुछ खम खा चुके थे फिर एकेडमी की इमारत उसके सब्जे और सड़कों की सफाई ऐसी कि फालतू पुर्जा कहीं गिरा हुआ दिखाई ना देता था खुश लिबास मुलाजमीन ऐसी सुबह कदम चाल वाले के जैसे हवा पे चल रहे हों इस तमाम तर निज़ाम का दबदबा हमारी हिस्सियात पे असर कर चुका था ऊपर से एक नौजवान लड़का जो हमारी उम्र का था मगर अपने सर की सफाक हजामत के बायस खून खार नज़र आता था तलवार की धार की मानंद स्त्री शुदा पतलून कमीज़ और चमकते हुए जूते पहने तनी हुई छाती से चलता हुआ आया था और हमसे ऐसे लहजे में मुखातिब हुआ था कि जैसे हुक्म चलाने का इख्तियार उसको कुदरत की जानब से मिला हुआ हो हम में से किसी एक की भी जबान ना खुल सकी नो हमारे साथी शौकत ने जुरत करके जवाब देना शुरू किया नो सर शौकत ने कहा पिकेट अप हमने गैर यकीनी से नज़रों से अपने सामान की जानब देखा पिकेट अप पिकेट अप हमने फौरन अपने अपने बक्स और थैले उठाकर कंधों पर रख लिए और खड़े उसका मुंह देखने लगे गो टू दैट बिल्डिंग उसने एक बैरक नुमा इमारत की जानब इशारा करके कहा हम उसकी तरफ चल पड़े डबल अप वो बोला हम तेज़ तेज़ चलने लगे डबल अप वो इतने ज़ोर से चीखा कि हम डर के मारे दौड़ पड़े मगर उसके अल्फाज मुस्तकिल हमारा पीछा करते रहे double up double up double up उसकी आवाज़ के साथ साथ हम तेज़ से तेज़ तर होते गए इतना भारी सामान कुछ कंधों कुछ सरों पर उठाए 200 गज तक तोड़ते हुए जब हम लकड़ी की उस इमारत तक पहुँचे तो सीने में हमारी सांस बंद होने के करीब थी ये कैडेट कंपनी ऑफिस था वहाँ पे एक संजीदा नीम खुशगवार शख्स ने सीनियर अंडर ऑफिसर के नाम से अपना तारुफ कराया और हमें इब्तदाई मालूम फराहम की हम छः लड़कों को फर्स्ट कैडेट बटालियन की तारी कंपनी में मुतन किया गया हमारे साथ मज़ीद पाँच लड़के आ शामिल हुए थे जिन्हें सलाउद्दीन कंपनी में भेजा गया फिर सीनियर अंडर ऑफिसर ने हमें एक जुम्मेदार साहब के हवाले किया जिनका तारुफ एन सी ओ गुल नवाज करके कराया गया उसकी ड्यूटी हमें अपने क्वार्टर तक पहुँचाने की थी एन सी ओ गुल नवाज जो कैडेट कंपनी ऑफिस में खामोशी और कायदे से खड़ा रहा था बाहर निकलते ही एक दरिंदा बन गया उसके मुंह से एक धाड़ निकली ये आवाज़ इतनी गैर मतवक्का थी कि हम चौंक कर तकरीबन उछल पड़े ऑन योर हेड्स उसने हमारे बक्सों की जानेब इशारा करके कहा जिन्हें हम हाथों में लटकाए चले जा रहे थे हम जो घर से रवाना होते ही अपने आप को अफसर तस्वुर करने लगे थे इस जुम्मेदार के हुक्म पर उसे हैरत से देखने लगे जब वो दूसरी बार धाड़ा तो उसकी लंबी लंबी मूछों वाले गजबनाक चेहरे को देखकर हमने बेचूचरा अपने बक्स उठाकर कंधों पर रख लिए हमें पूरी तवक्का थी कि अब वो एक और धाड़ मारेगा और हमें दौड़ लगाने का हुक्म देगा इस ख्याल से हमने पहले ही अपनी चलने की रफ्तार मामूल से तेज़ कर दी जब उस शख्स की जानिब से मज़ीद कोई गरज पैदा ना हुई तो हमारे दिल को कुछ तसल्ली हो गई थोड़ी दूर ही गए होंगे कि आगे हमने एक लड़के को अपना रास्ता काट कर गुजरते हुए देखा फासले से ये वही लड़का दिखाई दिया जिसने आते ही हमें अपना सामान सर पर उठवाया था नज़दीक आने पर वो कोई और लड़का निकला जो अपनी हजामत और स्त्रीशुदा पतलून और चमकते हुए स्याह बूटों से एन उस पहले लड़के की कॉपी मालूम होता था और उसने हरकत भी वैसी ही की वो चुस्ती से चलता हुआ कहीं जा रहा था हमें देखकर रुक गया जैसे ही उसके करीब पहुंचे वो चिल्ला कर बोला double up you lazy creatures double up हमने समझ रखा था कि अब हम गुल नवाज की मातहती में हैं और मज़ीद ख़तरा से महफूज हैं हमने गोया मदद के लिए गुल नवाज की जानब देखा उसी वक्त गुल नवाज मुंह खोलकर अपनी गरजदार आवाज़ में चीखा डबल अप जैसे कि उस लड़के की नकाली कर रहा हो हुक्म देकर वो खुद भी साथ साथ दौड़ने लगा हमारे पास अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि उसके साथ उल्टे सीधे कदम मिलाकर दौड़ने लगे हमारी ये दौड़ एक इमारत और दो खेल के मैदानों को पार करने के बाद हमारे कमरों पे आकर ख़त्म हुई तीन सौ गज के फासले पर थे हमें अपने अपने कमरे दिखाकर गुल नवाज ने कुत्ते की भूख की मानिंद आखिरी बार मुंह खोला dinner seven P M sharp तारी कंपनी मैस इज़ देयर उसने हाथ से इशारा करके बताया कमरों में दाखिल होकर हमने अपने बक्स यूं ज़मीन पर फेंके जैसे किसी मुर्दा जानवर को पीठ पर लाद कर लाए हों अब हमें मालूम हो चुका था कि अफसर बनना रहा एक तरफ हम तो यहाँ पे सिपाही से लेकर ऊपर तक हर एक के मातहत थे सबसे पहले यह कि अपनी सांस बराबर करें जो इस कदर फूल गई थी कि छाती के अंदर दम खत्म हो चुका था दूसरा मैस तक पहुँचने का मसला था जो मैदानों के पार बाई तरफ वाक्य था रास्ते में एक लंबी इमारत आती थी जिसके बरामदे में चंद लड़के खड़े थे ये हु बहू उसी किस्म के नौजवान थे जिन्होंने हमें हुक्म देकर दौड़ने की सज़ा दी थी अगर कद के इंच दो इंच फ़र्क को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो लगता था कि सब एक ही सांचे से ढलकर निकले थे उन्हें देखकर हमारी रही से ही जान भी निकल गई हमने अपने कमरों के दरवाजे बंद किए और बिस्तों पर ढह गए हमारे पास सिर्फ एक घंटे का वक्त था बीस मिनट के बाद किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया मैं मुर्दे की तरह बिस्तर से उठा मेरा एक साथी आसिफ खड़ा था वो अंदर आकर सीधा बिस्तर पर लेट गया बैठते ही उसने खामोशी से कमीज़ के दो बटन खोले और कॉलर खींच कर मुझे अपना कंधा दिखाया उसकी गर्दन से लेकर शाने तक एक इंतहाई खौफनाक किस्म की खराश का निशान था जिस पे खून के बारीक कतरे जमे हुए थे ये क्या मैंने पूछा मेरे अटैची केस के बक्सुए ने काट दिया है वो बोला तुम दिखाओ गो मेरे शाने पे भी मुस्तकिल दर्द उठ रहा था मगर थकावट के मारे मैंने उसकी जानब ध्यान ना दिया था मैंने बटन खोले और गर्दन मोड़कर देखा मेरा शाना भी सुर्ख हो रहा था बच गए हो आसिफ ने देखकर कहा मैंने जल्दी में बक्सुए वाला हिस्सा कंधे पर रख लिया था तुम्हें इस पर ड्रेसिंग करनी चाहिए मैंने कहा खून निकल रहा है ज़ख्म बन जाएगा छोड़ यार मैं अभी साबुन से धो लेता हूँ ठीक हो जाएगा मेरे तो पेट में भूख से दर्द होने लगा है अब तुम तैयार हो जाओ ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया मैंने अपने बक्स से धुले हुए कपड़े निकाल कर बिस्तर पर फैलाए ठोंस ठोंस कर भरे हुए कपड़ों में गहरी शिकनें पड़ गई थी हाथों से दबा दबा कर मैंने शिकनों को दूर करने की कोशिश की जब कामयाबी ना हुई तो पतलून स्वीटर और टाई को हतुलवसा हमवार करके ऊपर भारी बक्स रख दिया फिर मैंने जल्दी से गुसल शुरू किया गुसल खाने के शीशे में अपनी खराश की पूरी लंबाई को मैं देखता ही रह गया गर्दन से लेकर कंधे के नीचे तक रगड़ खा खा कर जिल्द इस कदर सुर्ख और उभरी हुई थी जैसे अभी उछल कर बाहर निकल आएगी मैंने गुसल करके साफ कपड़े पहने कपड़ों की शिकने उसी तरह नुमाया थीं अब हमारे पास सिर्फ पंद्रह मिनट थे और हम सब तैयार होकर एक साथ बरामदे में खड़े दूर से अपने मैस और रास्ते में पड़ती हुई इमारत को देख रहे थे अब उन कमरों के बाहर सिर्फ दो लड़के खड़े बातें कर रहे थे मगर हमें पता चल चुका था कि हम सब के लिए सिर्फ एक लड़का ही काफ़ी से ज़्यादा साबित हो सकता था यार एक तो अंग्रेज़ी बोल बोल कर मेरी ज़बान अकड़ गई है अशरफ ने कहा एन सी ओ बी अंग्रेज़ी बोलता है आसिफ मतानत से बोला जैसे कोई अहम खबर सुना रहा हो तुम तो कुछ बोले ही नहीं शौकत ने कहा मैंने कई बार यस सर कहा था अशरफ ने जवाब दिया सीनियर अंडर ऑफिसर से मैंने ही एक सवाल किया था क्या सवाल था अब याद नहीं रहा दौड़ दौड़ कर तुम सारों की मत मारी गई है बरकत बोला जो एथलीट रहा था और हम सब से ज़्यादा होश में था वो कैडेट कॉलजिए जो दूसरी कंपनी में गए हैं खूब अंग्रेज़ी बोल रहे थे अशरफ रश्क भरे लहजे में बोला उनकी शक्ल सूरत भी उन्हीं लोगों की तरह है आसिफ बोला उन कॉलेजों से ये आधे कैडेट तो बनकर ही निकलते हैं यार क्या वक्त ज़ाया कर रहे हो बरकत बोला दस मिनट रह गए हैं चलो चलें मेरे जहन में एक स्कीम है आसिफ ने कहा पिछली तरफ से निकल जाएं कैसे निकल सकते हैं उधर से रास्ता ही बंद है एक छोटा सा रास्ता लेफ्ट को जाता है कहाँ है ऊपर आके देखो यहाँ से नज़र आता है है तो सही किसी कमरे को जाता हुआ लगता है चल कर देख लेते हैं हम सब ऊपर को चल पड़े रास्ता कमरे को ही जाता था मगर कमरा बैठक की तर्ज का था और खाली पड़ा था हम उसमें दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकले तो पीछे एक बागीचा था पौधों को फलांगते हुए हम आखिर एक तंग से पथरीले रास्ते पर जा निकले जहाँ से मैस का रास्ता साफ था हमने सुख का सांस लिया मैस के दरवाजे पर चार लड़के खड़े थे जो चारों के चारों जुड़वा भाई मालूम होते थे गोया यही लिबास और हजामत लिए माँ के पेट से बरामद हुए हों look at the haircut एक ने दूसरे से कहा ए यू वो हमें मुखातिब करके बोला come here you can go in there with your long hair don't you have a brush dip your head in here दूसरे ने एक पानी से भरे हुए टप की जानब इशारा करके हमसे कहा हम हैरत ज़दा होकर खड़े रहे जैसे ज़मीन ने हमारे पाँव जकड़ लिए हों कम ऑन कम ऑन पहला बोला do you want your dinner or not yes Barkat ने जवाब दिया सर लड़का चीखा सर बरकत ने दोहराया you want your dinner you dip your head in here and arrange your hair properly or no dinner go back get out of here एक लहजे के तवक़ के बाद बरकत आगे बढ़ा उसने टब के दोनों किनारों पर हाथ रखे और झुककर अपने बाल पानी में डबो दिए डाउन लड़के ने हुक्म दिया बरकत ने कानों तक सर को पानी में डबोया नॉट इनफ डाउन डाउन लड़का हुक्म सादिर करता चला गया डाउन बॉय डाउन हती के बरकत की नाक पानी में डूब गई चंद सेकंड तक वो सांस रोके उसी हालत में ठहरा रहा फिर उसका दम खत्म हुआ तो उसने घबरा कर सर पानी से निकाल लिया वो सर को हाथों में थामे झुका झुका बरामदे की सीढ़ियों तक गया और बालों से टपकता हुआ पानी निचोड़ने लगा ऑर्गेनाइज दैम दूसरा लड़का भोंका बरकत ने बालों में उंगलियां फेंककर उन्हें संभाला with your palm press them down down Barkat दोनों हथेलियों से बालों को दबा दबा कर जमाता गया हत्या के गीले बाल घोपड़ी के साथ जुड़ गए नाओ यू पहले लड़के ने अशरफ से कहा एक के बाद एक हम सबको इसी अजियत से गुजरना पड़ा उसके बाद हमें मेस में जाने की इजाज़त मिली हम हॉल में बिछी हुई लंबी सी मेज़ के एक कोने पर जाकर बैठ गए हॉल में दस बारह एक जैसे लड़के दो टोलियों में खड़े आपस में बातें कर रहे थे कभी कभी वो हमें इस तहजाइया नज़रों से देखते और मुस्कुरा कर मुँह फेर लेते अब सूरत ये थी कि उस चमकते हुए साफ शफाफ हॉल और चुस्त लिबासों वाले लोगों के दरमियान हम छः लड़के अपने ढीले ढाले शिकनों वाले कपड़े पहने बालों को खोपड़ियों पर लेप किए जिनसे पानी के कतरे गिरकर हमारे कॉलरों को गीला कर रहे थे मेज के आखिर में सिमट कर बैठे थे और कोई बैरा हमारी जानब तवज्जा ना दे रहा था भूख से हमारी अंतड़ियां कुल बुला रही थीं कुछ देर के बाद पाँच छह कैडेट कॉलेजिए लड़के आकर हमसे कुछ फासले पर बैठ गए उन सब के बाल भी गीले थे मगर वो हमारी तरह मुसीबत ज़्यादा दिखाई ना दे रहे थे बल्कि आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे कि इस सारी कार्रवाई को मजाक की हद तक तस्वुर कर रहे हों हमें महसूस हो रहा था कि हम सारी रात वहाँ बैठे रहेंगे और कोई हमारी जानब तवज्जा ना देगा आखिर तकरीबन 15 मिनट के बाद जो हमें 15 घंटे के बराबर लगे बहरे खाने लेकर आते हुए दिखाई दिए एक और मसला यह था कि छुरी कांटे के साथ खाना मतलूब था जिसका सलीका हम सब में सिर्फ शुएब को था मेरी तरफ देखते जाओ वो सरगोशी में बोला जैसे मैं करूं वैसे ही करते जाओ जैसे तैसे हमने खाना ख़त्म किया कैडेट कॉलजिए एतमाद से छुरी कांटा इस्तेमाल कर रहे थे हमें उसी रात को ही उनसे हसद हो गया था गो वक्त गुजरने के साथ अपनी टर्म के सब लड़कों की आपस में दोस्ती और हमसरी की रवायत कायम होती गई थी खाना ख़त्म करते ही हम ऐसे बे आवाज़ अंदाज में कुर्सियों से उठे कि हॉल में मौजूद काफ़ी सारे लोगों को खबर ना हुई हमारे दिलों में वसवसा यूं घर कर चुका था कि हम कन नखियों से अपने पीछे देखते हुए टेढ़े टेढ़े चलते हुए वहाँ से निकले जैसे लोग मुकद्दस मज़ारों से पिछले पाँव निकलते हैं बाहर आकर हमने ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस भरकर सीना साफ किया अपने तई हम अब दिन भर की कार्रवाई से ओहदा बरा हो चुके थे चुनाचे जिस पिछले रास्ते से आए थे उसे छोड़कर सीधे रास्ते वापस हो लिए अभी हम चंद कदम ही गए होंगे कि एक बावर्दी आदमी जो शायद हवालदार या जुमेदार या सूबेदार था एकदम कहीं से ऐसे जाहिर हुआ जैसे कोई जंगली जानवर किसी झाड़ी के अकब से जस्त भर कर निकलता है निकलते ही उसके हलक से आवाज़ ऐसी आवाज़ में बरामद हुई जैसे बारूद का गोला फटता है double up you lazy buggers double up हम उछलकर दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते अपने कमरों में जाकर रुके उसके बाद मुझे याद नहीं कि कब मैंने उठकर कपड़े बदले और कब सोया मगर अकेडमी में वो पहले दिन का दिन मुझे उम्र भर याद रहेगा जिसके दौरान हमें इल्म हुआ था कि वहाँ पे हम सिपाही से लेकर ऊपर तक हर एक के सिर्फ मातहत ही नहीं बल्कि जरखरीद गुलाम थे अगले रोज़ नाई ने हमारे सरों के गिर्द भी ऊंची ऊंची मशीन फेर कर गर्दन और कान नंगे कर दिए फिर दर्जी ने हमारी वर्दियाँ सीने के लिए माप लिए अगले ही रोज़ हमारी चुस्त वर्दियाँ सिलकर आ गईं जब हमने वो पहनी और काले बूट चढ़ाए तो मुझे महसूस हुआ क्या हमारी चाल ही बदल गई है साथ अपने बालों की कटाई की वजह से शक्ल भी बदल चुकी थी दो दिन में ही हमारे अंदर अतमाद पैदा होना शुरू हो गया था उस वक्त मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि इंसानों को एक मुनज़म ग्रोह ख्वा वो कैसा ही अजीबुल खल क्यों ना हो अपने अरकान को किस तरह शमूलियत तहफ़ और क़वत मुहैया करने का सबब बनता है अभी हमारा कोर्स शुरू भी ना हुआ था चौथे रोज जब कोर्स बाकायदा तौर पर शुरू हुआ तो दिन भर का प्रोग्राम दिया गया जो इस तरह था सुबह छः से सात पीटी सात से आठ परेड फिर एक घंटा गुसल लिबास बदलने और नाश्ता करने के लिए जो परेड मैदान से कमरे कमरे से मैस और मैस से क्लासरूम के दरमियान दौड़ लगाते लगाते ही गुजर जाता नौ से ग्यारह पढ़ाई की क्लासें जिनमें मिलिट्री सब्जेक्ट पढ़ाए जाते बारह बजे दोपहर का खाना एक से दो बजे तक रेस्ट दो से चार परेड चार से छः गेम्स सात बजे डिनर डिनर के बाद एक दो घंटा पढ़ाई के लिए और फिर लाइट ऑफ कहने को दिन के दौरान रेस्ट के तीन घंटे थे मगर कमरे में जाते जाते जो कोई छोटा बड़ा मिल जाता या दूर से ही देख लेता वहीं पे पकड़ लेता और वो जो कुछ करने को कहता वही करना पड़ता किसी सवाल जवाब की गुंजाइश ना थी जिस रोज़ अशरफ का नाम शर्फी बकरा और बरकत का बरकी नेवला रखा गया उस दिन हम अपने कमरों को जाते हुए अभी कुछ दूर ही थे कि दूसरी टर्म के कैडेट मजीदुल्ला ने हमें देख लिया यू वो बोला kneel down all of you हम खड़े खड़े झुके तो वो बोला not like this like a frog come on a frog a frog like a frog हमने हाथों और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर मेंढक की शक्ल इख्तियार कर ली now frog march to your room go on quick frog march हम मेंढक की तरह पुदक पुदक कर चलते हुए अपने कमरों तक आए what are you called Majidullah ने अशरफ से पूछा Ashraf sir I will call you Sharfi yes sir now imagine that you are a god yes sir go on speak like a god Ashraf ने मैं करके बकरे की मानंद आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी एंड यू मजीदुल्ला ने बरकत से पूछा Barkat sir bloody peasant name from today you are Barki and you look like a mongoose yes sir you know how a mongoose speak yes सर ये कहकर बरकत ने चर्र चर्र की आवाज़ पैदा की गो ऑन गो ऑन बरकत ने चर्र चर्र की गर्दान शुरू कर दी all right stop Majidullah Ashraf की जानब उंगली उठाकर बोला any time you see me you start speaking is a god and you वो बरकत से मुखातिब हुआ always speak like a mangoes you understand yes sir दोनों ने एक साथ कहा if you god you shall be punished okay yes sir punishment से हमारी जान जाती थी अगर कोई सीनियर परेड से वापसी पर हमें देख लेता था और उसे सज़ा देने की सोचती तो वह किट समेत हमें रोकर डबल अप करा देता और खुद खड़ा देखता रहता यूं हमारा रेस्ट का घंटा ग्राउंड में दौड़ते हुए गुजर जाता जब तक कि हमारी टांगे या फेफड़े जवाब न दे जाते हुक्म अदूली नाम की कोई चीज़ यहाँ पे ना थी कोई चीज़ यहाँ पे थी ही नहीं उस दिन के बाद शर्फी बकरा और बरकी नेवले का नाम उन दोनों के साथ यूं नथी हुआ कि उम्र भर चिपका रहा कुछ अरसे बाद मजीदुल्ला का दस्तूर बन गया कि वो बगैर पूछे गिछे हमारे कमरों के दरवाजे खोलकर अंदर घुस आता शर्फी उसे देखते ही बकरे की मानिंद मैं मैं करने लगता और बरकत के कमरे में बरकी नेवले की तरह चर्र चर्र शुरू कर देता फिर एक बार ये तमाशा मजीदुल्ला पे उलट पड़ गया वो बरकत के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर दाखिल हुआ तो इत्तेफाक से शर्फी भी वहाँ बैठा था मजीदुल्ला की शक्ल देखते ही बरकी उचक कर अपने बिस्तर पर चढ़कर खड़ा हो गया और चर चर करने लगा उसके साथ ही शर्फी ने उठकर मैं मैं की रट लगा दी मगर मजीदुल्ला अकेला ना था उसके पीछे पीछे सीनियर अंडर ऑफिसर सबगतुल्ला था जो कमरों का मुआयना कर रहा था वो अंदर दाखिल हुआ तो चंद लम्हों तक आंखें फाड़े दोनों लड़कों को ये हरकत करते हुए देखता रहा मजीदुल्ला ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कराया what is going on senior under officer ने मजीदुल्ला से पूछा sir these first termers are in the habit of doing this Majidullah शर्मिंदा सा होकर बोला सीनियर अंडर ऑफिसर ने संजीदगी से कमरे की इंस्पेक्शन की और दोनों कमरे से निकल गए उस दिन के बाद मजीदुल्ला ने शर्फी और बरकी को मना कर दिया शर्फी को सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती थी वो सख्त मस्करा आदमी था और किसी मौका पर भी शरारा से बाज ना आता था कभी कभी वो हम सबको मुश्किल में डाल देता था एक बार फिर हम फिल्म शो देख रहे थे कोई पुरानी सी अमरीकी फ़िल्म थी जिसमें बीसियों औरतें नहाने का मुख्तर लिबास पहने इधर उधर चलती फिरती और स्विमिंग करती दिखाई गई थी एक सीन में उन्हीं लड़कियों का कोर्स डांस आया तो शर्फी ने सीटी बजा दी ये बात डिसिप्लिन के खिलाफ थी ख़ास तौर पर सीनियर्स की मौजूदगी में यह हरकत काबिल सज़ा तस्वुर की जाती थी सीटी की आवाज़ पे सीनियर्स ने पीछे मुड़कर देखा हमसे अगली कितार वालों को पता चल गया था कि सिटी शर्फी के मुंह से निकली थी हमें इल्म था कि फिल्म के अख्ताम पर वहीं पे इंक्वायरी होगी और शर्फी की शामत आ जाएगी मैंने आंख से इशारा किया हमारा छः का ग्रुप साथ साथ बैठा था सब ने उसी तरह सीटियां बजानी शुरू कर दी जो सीधी सादी सीटी ना थी बल्कि उनमें शी की आवाज़ शामिल थी हमारे साथ ही सलाउद्दीन कंपनी वाले कैडेट कॉलजिए बैठे थे उन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया अब सूरत यह थी कि स्क्रीन पर नंगी टांगों वाली लड़कियों का कोरस डांस हो रहा था और हमारी तकरीबन सारी कितार सीटियां बजा रही थी गो ये तमाशा सिर्फ चंद सेकंड्स रहा मगर सामेइन में खलबली मच गई सीनियर्स गुस्से से मुड़ मुड़ कर देखे जा रहे थे बाकी की फिल्म खामोशी से देखी गई जैसे ही लोग फिल्म देखकर उठे हमारी कितार को फॉल इन करा लिया गया who whistled senior under officer ने सवाल किया किसी ने जवाब ना दिया I see who the bugger whistled first speak सब खामोश खड़े अपने अपने सामने देखते रहे हम पनिशमेंट के लिए तैयार थे all right you all you will not walk to your rooms neither you will run you will go to your room somersaulting from here not on your hands but on your heads you understand what that's it yes sir describe it कलाबाजियाँ सर राइट स्टार्ट वो बोला फिर एकदम चीखा now film show open air में हुआ था उससे पहले बारिश होके हटी थी हमारी कितार की कितार कीचड़ पत्थरों और गीली ज़मीन पर कलाबाजियाँ खाने लगी रास्ता ख़त्म होने में ही ना आता था आखिर आध घंटे के बाद हम अपने कमरों तक पहुँचे हमारी हालत देखने के लायक थी सर हाथ मुंह और कपड़े मट्टी और कीचड़ में पत थे कई के माथों पर खराशें आ गई थी वो शाम तो हम सब ने गुसल खानों में अपनी मट्टी उतारते हुए गुजारी अगला सारा दिन हम शर्फी के खिलाफ स्कीमें बनाते रहे अगला सारा दिन हम शर्फी के खिलाफ स्कीमें बनाते रहे शर्फी ने उन सबको जिन्होंने चेहरे और हाथों की खराशों पे पलस्तर चिपका रखे थे सॉरी कहा मगर किसी ने जवाब ना दिया और ना उससे बात की रात के खाने के बाद पढ़ाई के घंटे में हम सब दबे पाऊँ शर्फी के कमरे में पहुँच गए सलाउद्दीन कंपनी वाले कैडेट कॉलजी अभी छुप कर आ गए सबसे पहले हमने शर्फी के कपड़े उतारे और सिर्फ अंडरवेयर में उसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया शर्फी ने ज़रा बराबर मजामत ना की जैसे बकरा रजामंदी से कुर्बानी को जा रहा हो फिर दो लड़कों ने पकड़कर उसे सर के बल खड़ा कर दिया उसकी पुश्त और टांगे लड़कों ने दीवार के साथ दबा के रखी बाकी के सब कुर्सी मेज़ बिस्तर और ज़मीन पे इतमान से बैठकर देखने लगे बातें करने या कोई भी आवाज़ पैदा करने का मौका ना था कमरे में चारों तरफ बैठे हुए हम लोग सब यूं इन हमाक से देख रहे थे जैसे क्लास में बैठे हुए संजीदगी से ब्लैक बोर्ड को देख रहे हों जब शर्फी का मुंह बहीर बूटी की मानंद लाल हो गया तो एक मिनट के लिए उसे सीधा खड़ा किया गया उसके चेहरे का रंग ज़रा साफ ही हुआ था कि दोबारा उसे उल्टा कर दिया गया चंद मरतबा उल्टा सीधा करते हुए दस मिनट गुजर गए आखिरी मरतबा उसे कई मिनट तक उल्टा रखने के बाद जब शर्फी की आंखें उबल पड़ीं तो सब ने एक दूसरे की जानब देखकर खामोशी से इस बात में सर हिलाए और इस मुत्तफिका फैसले की बिना पर शर्फी को सीधा खड़ा कर दिया अभी उसकी सांस बराबर ना हुई थी कि उसे बाजुओं से पकड़कर गुस्लखाने में ले जाया गया जहाँ सर्द पानी की भरी हुई बाल्टी तैयार रखी थी उसे उठाकर शर्फी के सर पर उंडेल दिया फिर कैडेट कॉलजिए जमाल ने अपने बैग से एक प्लास्टिक का डब्बा निकाला जो अमूमन खाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जमाल ने उसका ढकना खोला तो डब्बा कीचड़ से भरा हुआ था उस ग्रुप के दरमियान तय था कि जमाल ने कीचड़ जमा करते हुए हाथ गंदे किए थे चुनाचे उसे इस्तेमाल करने का काम दूसरे करेंगे दो लड़कों ने चुल्लू भर भर कर कीचड़ शर्फी के सर और बालों पे मल मल कर लेप कर दिया इस अमल के दौरान शर्फी ने मुंह और आंखें दबाकर मींच लीं मगर शुरू से आखिर तक उसके मुंह से आवाज़ तक ना निकली जब कीचड़ ख़त्म हो गया तो दोनों लड़कों ने हाथ धोकर खुश किए फिर हम सब जैसे आए थे उसी तरह खामोशी से एक दूसरे के पीछे उस कमरे से निकलकर अपने कमरों में चले गए उस दिन के बाद से कैडेट कालजियों के साथ हमारा एका हो गया इसी तरह जाने मारते सख्तियां सहते सजाएं भुगतते हुए खुदा खुदा करके पहली टर्म ख़त्म हुई और हम सीनियर्स में शामिल हो गए अजीब बात थी कि फ़र्स्ट टर्म के आखिरी दिनों में हमारे दिलों के अंदर उस बदसलूकी के बारे में जो हमारे साथ रवा रखी गई थी कोई कदूरत बाकी ना रही थी बल्कि हमारे ख्याल के मुताबिक उसके ज़रिए हमें यह हक दे दिया गया था कि नए फर्स्ट टर्मर्स के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा हमारे साथ किया गया था दस्तूर के मुताबिक हमने वैसा ही किया इस टर्म में कुछ शॉर्ट सर्विस कोर्सेज के लड़के भी आए थे जिनकी ख़ास तौर पर खिंचाई की गई क्योंकि हमें इल्म था कि ये लड़के आठ नौ माह में ही अफसर बन जाएंगे जबकि हम लोग अभी थर्ड टर्म में घिसट रहे होंगे हम उनसे हसद भी महसूस करते थे और साथ ही अपने आप को प्रोफेशनल सोल्जर्स होने की हैसियत से उनके मुकाबले में अला तर तस्वुर करते थे इन सब बातों से कता नज़र हमारा रोज़ाना का प्रोग्राम वैसा का वैसा ही रहा पहली टर्म के मुकाबले में ये दूसरी एकेडमिक टर्म थी जिसकी क्लासों में बीए के कोर्स के मजामी पढ़ाए जाते थे और उसी हिसाब से रात के दो घंटे की पढ़ाई में भी मेहनत दरकार थी अगरचे पहली टर्म की मुशक्क़त के बाद हमारी जिसमानी सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी मगर दिन भर की बाग दौड़ के बाद थकावट अब भी हम पे उसी तरह नाजिल होती थी कि नौ बजे के बाद आंखें खुली रखना दुशवार हो जाता था चुनाचे दिन वाले रेस्ट के एक दो घंटे भी पढ़ाई की नज़र हो जाते अकेडमी में दिन काटे ना कटता था मगर हफ्ते और महीने यूं गुजरते थे जैसे घड़ियां और घंटे हों मेरे एकेडमिक रिज़ल्ट और दीगर कारकर्दगी की बिना पर तीसरी टर्म में मुझे प्लाटन का पुल बना दिया गया जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था फील्ड के फ़राइज़ के अलावा छोटे मोटे डिसिप्लिन के मामले भी मेरे जेर निगरानी आ गए थे अब हम सज़ाएं भुगतने और सज़ाएं देने के खेल की मंजिलों से गुजर कर असल जिम्मेदारियां संभालने की हैसियत में आ चुके थे इस तजर्बे से मुझे पता चला कि हाँ या ना में फैसला सादर करने के इख्तियार का बोझ किस कदर वजनदार होता है यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा मुझे अपनी तमाम तर ट्रेनिंग और असूलों से बारजा मुनहरफ होना पड़ता है एक बार एक शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले लड़के का जिन्हें हम आपस में शार्टिए कहते थे केस आ गया जिसने हैंड टू हैंड फाइटिंग की ट्रेनिंग के दौरान अपनी ब्योनेट गुम कर दी थी हथियार गुम करना एक मिस डैमेज तस्वुर किया जाता है उस लड़के के साथ मेरी हमदर्दी कुछ इस वजह से भी थी कि अपनी जिस्मानी साख के बायस जो भारी कूलों नुमाया थनों और लचकदार चाल वाली थी उसे उर्फ आम में जनखा कहा जाता था और शदीद किस्म की खिंचाई का निशाना बना रहता था मगर दिमागी तौर पर यह लड़का इंतहाई जहीन था जब वो मेरे पास आया तो कायदे से मैंने उसे मतला कर दिया कि हथियार गुम करना एक अहम मामला था और इंक्वायरी के बगैर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जब मैंने दोबारा उसकी शक्ल देखी तो एक लहजे के लिए परेशान हो गया उसका रंग सरसों की मानंद जर्द और आंखों में हैवानी वहशत का असर था सर मुझे निकाल दिया जाएगा वो कांपती हुई आवाज़ में बोला खौफ की वजह से वो अंग्रेज़ी में बात करना भी भूल गया था you will not be thrown out मैंने कहा ओनली पनिश्ड नो सर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला I will be thrown out I will be destroyed उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रहा था ऑल राइट right, मैंने उसकी हालत देखकर कहा wait I come from a poor family sir wait wait मैंने जल्दी से फैसला किया कि किसी न किसी तरह उसे बचाना ही पड़ेगा वरना वो नफसियाती तौर पर तबाह हो जाएगा एक ही तरीका था कि मैं झूठ बोलकर जिम्मेदारी अपने सर ले लूँ मैंने प्लाटून सार्जेंट के पास जाकर सारा मामला साफ साफ बता दिया उसने मुझे नतज के बारे में ख़बरदार किया मगर मैंने उसे कायल कर लिया कि मैं सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ जब प्लाटून कमांडर के सामने पेशी हुई तो मैं अपनी स्टोरी बना चुका था कैप्टन असदुल्ला प्लाटून कमांडर को मैंने बयान दिया कि कैडेट नवाज होकर हैंड टू हैंड एक्सरसाइज से वापस आ रहा था तो मैं उसकी ब्योनेट उतार कर उसका मुआयना करने लगा देखते देखते ब्योनेट मेरे हाथ से फिसल कर खड में जा गिरी मैंने रस्सों की मदद से लड़के खड में उतारे मगर ब्योनेट ना मिल सकी कैप्टन असदुल्ला ने मुझसे चंद मज़ीद सवाल किए फिर बोला आई कैन रेलीगेट यू वो कड़ी नज़रों से मुझे देखने और सोचने के लिए रुका but I will let you off this time keep your wits about you and वो सख्ती से बोला फाइंड द ब्लडी वेपन मामला ख़त्म हो गया हम गुमशुदा ब्यूनिट को भूल चुके थे कि चार पाँच माह के बाद एक रोज़ एक एनसीओ उसे हाथ में उठाए हुए आया पता चला कि ब्यूनिट डमी के पेट में घास फूस रुई और मुर्गाबी के पैरों के अंदर ही फंस कर रह गई थी और क्रेडिट को गालिबा हैंड टू हैंड की हाओ और जोशो खरोश में देर तक उसकी खबर ही ना हुई थी इत्तफाक से एक और एक्सरसाइज के दौरान एक लड़के की ब्योनट डमी के अंदर किसी लोहे से टकराई तो उसे शक हुआ और तलाश करने पर गुमशुदा ब्योनट निकल आई हमने चुपके से ब्योनट वापस कर दी उस वक्त तक उसे गुम करने वाला कैडेट एकेडमी से फारिग होकर भी जा चुका था इसी तरह एक और मौका पर कैडेट हबीबुल्ला एक रात को 12 बजे बाहर से वापस आया तो गेट पर रोक लिया गया ये कैडेट चार सदे का खुश शक्ल पर ठान था और अफवाहें थी कि एक सिविल के अफसर की बीवी के साथ उसके ताल्लुक थे गेट बंद होने के बाद बाहर रहना बड़ा जुर्म था और हबीबुल्ला के केस की इंक्वायरी के दौरान ये मामला एक मॉरल ट्रिपीट्यूट की शक्ल इख्तियार कर चुका था जिसके तहत उसे सर्विस से निकाला भी जा सकता था मैं उस वक्त हबीबुल्ला का प्लाटून सार्जेंट था मुझे बारह बजे सोते से उठाकर इत्तला दी गई मैंने जल्दी से कपड़े पहने और गेट पे पहुंचा। हबीबुल्ला का चेहरा नुचड़ा हुआ था मैंने अलग ले जाकर उससे पूछा तो उसने सच सच बता दिया कि वो एबटाबाद गया था और वापसी पे उसे देर हो गई मामले की नज़ाकत के पेश नज़र मैंने ये दरियाफ्त करने की ज़रूरत ना समझी कि वो क्यों और किस सिलसिले में वहाँ से देर करके आया था हबीबुल्ला की निगाहों में शर्मिंदगी थी मगर वो इतना बासूल और अपराइट किस्म का शख्स था कि अगर मैं उससे सवाल भी कर देता तो वो सारी कहानी बयान कर देता जिसे मैं सुनना ना चाहता था मैंने गेट वालों से कहा कि हमारा एक कैडेट बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल था और हबीबुल्ला को मैंने उसकी खबरगिरी के वास्ते भेजा था जहाँ पे उसे देर हो गई हबीबुल्ला आखिर तक मेरा वफादार रहा मैं जहाँ भी पोस्टिंग पर गया उसने टेलीफोन या ख़त के ज़रिए मेरी खैरियत दरियाफ्त की वो कमीशन पाने के एक साल के अंदर ही कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के साथ एक झड़प के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गया और चंद रोज़ हस्पताल में रहने के बाद फोत हो गया मैं उसका फातहा पढ़ने के लिए राहो वाली से जहाँ मैं उस वक्त पोस्टिंग पे था चार सदा गया था एकेडमी के दो साल गोया आँख झपकते में गुजर गए हमारे सामने कई ग्रुप बने और टूटे मगर हम छः लड़के जो पहले रोज़ इकट्ठे आए थे सारे खुदा के फजल से एक साथ रहे यूं तो छः के छः आपस में पक्के दोस्त थे मगर मेरी कुर्बत सबसे ज़्यादा शुएब के साथ थी मैं छुट्टियों में एक दो बार उसके घर भी जा चुका था ये लोग छावनी के इलाके में रहते थे शुएब का बाप रिटायर्ड ब्रिगेडियर और बुलंद बांग किसक का आदमी था शुएब की एक बहन नसीमा थी जिसने अभी अभी ए किया था और ए साइकोलॉजी में दाखिले लेने की कोशिश कर रही थी पहली बार मैं गांव जाते हुए सिर्फ एक घंटा उनके यहाँ रुका था जिसके दौरान ब्रिगेडियर साहब और शुएब की बहन से सिर्फ लैक सलैक हुई थी दूसरी बार शुएब ने इसरार करके मुझे एक रात के लिए ठहरा लिया उस शाम को हम खाने की मेज़ पे देर तक बैठे बातें करते रहे उनकी माँ कहीं दिखाई ना दी ना ही किसी ने उसका जिक्र किया बहुत बाद में जाकर जब मैंने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया नसीमा ने मुझे बताया कि उनकी माँ मरी के करीब किसी सैनिटोरियम में थी आखिरी टर्म में सलाउद्दीन कंपनी के जमील और जमाल भी एक तरह से हमारे ग्रुप में शामिल हो गए मगर वो बात ना बनी जो हम छः के दरमियान थी जिन्हें हम दी ओरिजिनल सिक्स कहते थे शुएब और जमील में नंबरों के मुकाबले की रकाबत पैदा हो गई थी शुएब पढ़ाकू होने के बायस एकेडमिक लिहाज से आगे था मगर दूसरे शोबों में उसकी दिलचस्पी सिर्फ ड्यूटी की हद तक थी जबकि जमील ऑलराउंडर था आखिर में जमील सॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए मुंतखब हो गया डिनर हुए हम बाकायदा अफसर बन गए वही जीसीओ और एनसीओ जो हमें कीड़े मकोड़े समझकर पाँव तले रोनते थे हमारा सितारा लगने पर देखते ही अटेंशन होकर सल्यूट करने लगे थे हमारा जहाँ ही बदल चुका था सर सातवें आसमान पे था और पैर ज़मीन पे ना टिकते थे यार ये बातें होती रहेंगी आसिफ ने मतानत से कहा लेकिन एक बात है आर्मी ने हमें बंदा बना दिया है तमाम तर सख्तियों के बावजूद अकेडमी छोड़ने पर हमारे दिलों में गहरी उदासी थी हम एक दूसरे से जुदा हो रहे थे मैंने बरकी और आसिफ ने इन्फेंट्री के लिए अपनी तरजीह पेश की थी जबकि शर्फी और शौकत ने आल्ट्री और शुएब ने कम्युनिकेशन का इंतखब किया था तीन चार साल कबल एजाज ने खुरलों के ब्याह के मौका पर एक अच्छे सूती कपड़े की शेरवानी सिलवाई थी जो उसने एक आध मरतबा ही पहनी थी एजाज के ख्याल में हर अच्छे मौके के लिए ये एक मौजू लिबास था मगर सकीना और चाचा अहमद उससे इख्तलाफ कर रहे थे बड़े बड़े जर्नैल करनैल आएंगे चाचा अहमद कह रहा था पुरानी अचकन पहनकर जाना दुरुस्त नहीं अब्बा ठीक कहता है सकीना ने कहा कोई पैसों की कमी है सरफराज फौज का अफसर बन रहा है तू उसके बाप की जगह पर जा रहा है चाचे अहमद ने कहा इज़्ज़त का मामला है सकीना ने कहा खर्च अखराज की ऐसे मौक़ों पर परवाह नहीं होती पैसे और जदादें किस काम की अगर मौके महल पर खर्च ना की जाए एजाज चुप बैठा था सारे वड वडेरे काली अचकन पहने हैं ऊपर माया वाली पग का शिमला निकाल के जा सरफराज का सर भी ऊंचा होगा काली अचकन बनवा ले चाचे अहमद ने कहा पुरानी मुझे दे दे मेरे और बासे के काम आएगी अब्बा तू तो चुप कर सकीना बोली पहले काली अचकन बने तो पुरानी का भी देखा जाएगा सबसे पहले मेरा हक पूरा करे पैसे बैंक में डालता जाता है और ज़मीनें देखता रहता है ये देख वो अपने बाप के आगे बाहें फैलाकर बोली ना गहना ना कपड़ा चार दफ़ा कह चुकी हूँ एक काला बुरका ही बनवा दे एजाज मुस्कुराया अब तुझे मुंह छुपाने का ख्याल आया है मुंह कौन छुपाता है सकीना बोली नकाब तो उल्टा ही रहता है छुपने छिपाने की बात नहीं इज्जत की बात है पहले और मामला था मगर जब अल्लाह इज्जत देता है तो बीबियां बुरका और नौकर लेकर घर से निकलती हैं जाज चाचा अहमद सोच कर बोला तू पैंट कोट कर क्यों नहीं जाता फौज का रिवाज है ऊपर खाकी टोप लगा लेना टश निकल आएगा एजाज हंस पड़ा खाकी टोप का रिवाज ख़त्म हो गया है चाचा तेरे ऊपर सज जाएगा चाचा संजीदगी से बोला तेरा रंग भी गोरा है कपड़ों की तरफ तू ध्यान नहीं देता सकीना ने कहा मेरे कपड़ों को क्या है एजाज बोला सीधे साफ सुथरे पहनता हूँ बस शोशा नहीं करता ओछे लोगों का काम है शोशा की बात नहीं चाचा अहमद बोला सरफराज की इज्जत है तेरी भी इज्जत है तेरी पोजीशन अब कोई हल्की है एजाज की हैसियत अब बहुत मजबूत हो चुकी है मेवे वाला गुड़ हाथों हाथ बिक रहा था एक साल के अंदर उसकी खपत मुकामी मंडी की हदूद पार कर चुकी थी एजाज ने 12 एकड़ ज़मीन नकद पर बी और मज़ीद 12 एकड़ ठेके पर हासिल करके दूसरे साल सारी ज़मीन में कमाद बो दिया अपना बेलना ख़रीद लिया था और ज़मीन पर दो कमरों का डेरा बना लिया था जहाँ गुल अफरोज़ खान के अलावा दो मुस्तकिल मुलाजिम रहते थे और ताज़ा गुड़ मेवे का ज़खीरा भी होता था चाचा अहमद उसे वाफर मकदार में खुश्क मेवे हिंदुस्तान से मंगवा कर सप्लाई कर देता था जो उसे बाजार की नस्बत काफ़ी सस्ते पड़ते थे एजाज अब अपनी मंडी के अलावा दूसरे शहरों को अपने गुड़ की लदान करता था मकबूलियत का ये आलम था कि शुजाबाद की शनाख्त बदामी गुड़ के हवाले से होती थी उससे अगले साल आमदनी इस हद तक गई कि आधा मुरबा ज़मीन नकद पर बी कराने और ऊपर का खर्चा निकालने के बाद भी एजाज के पास बैंक में जमा कराने के लिए पैसे बच रहे थे इन सब बातों के बावजूद एजाज का दिल और दिमाग सही जगह पे कायम थे ना दिल में फतूर आया था ना दिमाग में गरूर उसका दिल असल में अपने मज़दूरों के दरमियान ही अटका रहता था उसके दिल में बैठी हुई चंद बातें थीं जो उसको लम्हा भर के लिए ना भूलती थीं गांव की मसरूफियात के बावजूद एजाज तकरीबन हर रोज़ वक्त निकाल कर शहर जाता और यूनियन के काम करता था वहाँ पे भी उसे बराबर की कामयाबी हासिल हुई थी मशरकी शहर और नवा की छोटी बड़ी मजदूर तंजीमों का बाहमी रब उसवार होने में काफ़ी हद तक पेशरफ हो चुकी थी जिसका सेहरा एजाज के सर था लेबर फेडरेशन के अहदेदारों के साथ उसका ताल्लुक वास्ता पैदा हो गया था और अब वो अंदरून और मगरबी शहर और शादरे बदामी बाग के बड़े सनती इलाके तक मार करने की फ़िक्र में था सबसे बड़ी बात यह थी कि तंजीम ने उसे बागबानपुरे के इलाके में एक छोटा सा कमरा मुहैया कर दिया था जिसे वो दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता और वहीं से ज़रूरी ख़तों किताबत किया करता था अब उसे एक सीट मैसर आ गई थी जिसे वो अपनी कारोबारी तरक्की से भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी तस्वुर करता था इन हालात ने उसके मिजाज के अंदर मज़ीद लचक और दुनियादारी का रवैया पैदा कर दिया था यहाँ तक कि दो एक बार वो मलक जहांगीर के मसलों के बीच उसके घर पे जा चुका था मज़ीद डेढ़ दो साल गुजरने के बाद एजाज दो मुरबे से ऊपर की अराजी का ज़ाती मालिक बन चुका था और जहांगीर अब ख़ास तौर पर उसकी सियासी हैसियत के पेश नज़र एजाज के साथ बराबरी के दर्जे पे सलूक करने लगा था फागन में जहांगीर के भतीजे का ब्याह था जिसमें शिरकत के लिए उसने एजाज को बमा लेफ्टिनेंट मलिक सरफराज अवान अहलो अयाल दावतनामा भेजा था अब सकीना ने आखिरी वार किया हुर के बगैर मैं जंगीर के घर में कदम भी ना रखूँगी ठीक है एजाज बोला बुरका ले दूँ तो जाएगी सकीना चुप रही अब बोलना एजाज ने कहा जाएगी देखा जाएगा पहले बुरका और चूड़ियाँ तो बने एजाज हंसा अब आगे ही आगे बढ़ती जा रही हो ये चूड़ियाँ किधर से आ गईं और क्या मैं कब तक मौका ब मौका अम्मा के कड़े मांग कर बाहों को ढकती रहूं तुम्हें तो ज़मीनें खरीदने और अल्लाह मारे शहर के बखेड़ों से ही मिनट नहीं मिलता चूड़ियाँ भी आ जाएं तो फिर एजाज ने शरारा से पूछा फिर क्या फिर जाएगी फिर देखा जाएगा जंगीर कोई लाट साहब है एजाज हंस पड़ा बहाने बनाए जा कब तक बनाएगी ये मेरे बहाने नहीं तुम्हारे है जेब की गांठ ना खोलने के बहाने एजाज ध्यान हटाकर मुंह ही मुंह में हंसता रहा हसन चाचे अहमद के गले में बाहें डाले उसकी पुश्त पे सवार था ओए हंसने एजाज ने आवाज़ दी इधर आ हसन चाचे की पुश से उतरकर बाप की गोद में आ बैठा नाने को क्यों तंग करता है एजाज ने कहा चाचा बच्चे ने पूछा चाचा मेरा है एजाज ने उसे कहा तेरा नाना है नहीं बच्चा बोला चाचा ओए तेरा नाना है बेवकूफ़ एजाज इसी तरह प्यार से उसके साथ बातें करता रहा सकीना ने एजाज का ध्यान हटा हुआ देखा तो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को हिला हिलाकर चाचे को अपनी जानब मतवजा किया और हाथ और सर के इशारों से उसे एजाज के साथ बात करने को कहा जाज चाचा अहमद बोला जमीला के रिश्ते का मामला था सकीना ने बात की होगी हाँ एजाज कुछ तवक्फ़ से बोला बात पक्की हो जाए तो दुरुस्त है चाचे ने कहा लोगों की नज़रें संभल जाती हैं बात तो दुरुस्त है चाचा एजाज ने कहा फिर ज़िंदगी का क्या पता है आज है कल गई एक ये जिम्मेदारी निकल जाए तो मैं आराम में हो जाऊं तेरी मासी हर वक्त फिक्र करती है दुरुस्त कहते हो चाचा एजाज सुकून से बोला जिम्मेदारी तो होती ही है ऊपर से बासे की फ़िक्र भी है उसका दिल ना खेती में लगता है ना किसी और बात में मेरे काम का उसे चस्का पड़ गया है गलती मेरी ही है अब मैं कहता हूँ पुल्स वुल्स में भर्ती हो जाए तो टिक जाएगा और बचा भी रहेगा तेरा भी असर रसूख है सरफराज भी अब फ़ौज का अफसर हो गया है आजकल फौज का राज है सारे काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे चाचा अभी तो सरफराज पूरा अफसर भी नहीं बना एजाज हंसकर बोला वाह फौज के अफसर की बात कोई मोड़ नहीं सकता बस तेरी बहन की बात पक्की हो जाए तो मेरी गर्दन से बोझ उतर जाए एजाज कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा फिर बोला चाचा जमीला मेरी बहन भी है और बेटी भी मेरी मर्ज़ी की बात हो तो आज ही पक्की कर दूँ मगर सरफराज अब जवान है कॉलेज का पढ़ा हुआ है अपनी मर्जी का मालिक हो गया है एक बार उससे बात करके देख लेने दो फिर समझो कि बात पक्की हो गई मर्जी तो जो होगी तेरी होगी जाज इन बातों का करार बड़ों ही में होता है चाचे अहमद ने कहा तेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान से आने के बाद तेरा रिश्ता हुआ था नहीं सकीना और तू अभी बचूंगड़े थे जब तेरी बहिश्तन माँ ने अपनी बहन से बात करके तेरा मंगेवा पक्का कर लिया था सकीना का चेहरा सुर्ख हो गया उसने तुन दही से चूल्हा साफ करना शुरू कर दिया वो और ज़माना था चाचा एजाज हंसकर बोला अब वक्त बदल गया है जैसे तेरी मर्जी चाचा अहमद बोला अपनी लड़कियां अपने घरों में ही लग जाएं तो बेहतर होता है इससे अच्छी क्या बात है चाचा एजाज ने कहा चंद रोज़ के बाद जब सरफराज घर आया तो चाचे अहमद का सारा टब्बर मिलने के लिए आया चाचे अहमद और मासी ने उसे गले लगाकर खुशामदीद कहा क्यों भाई सरफराज चाचे अहमद ने पूछा जहाज तेरे पास होने के जलसे पर पहुंच गया था ना ठीक ठाक था ना कोई उठक बैठक में गलती तो नहीं कर गया नहीं चाचा लाले की बड़ी शान थी और शान बनाई किसने थी ये खुदा का बंदा तो वो लट्ठे की अचकन पहनकर जा रहा था चाचा लट्ठे की नहीं बड़े अच्छे कपड़े की है एजाज उसकी बात काट कर बोला चाचे अहमद ने एजाज की बात की जानब तवज्जा ना दी मैंने वो छाती पे हाथ मारकर बोला और सकीना ने उसको काली अचकन पहनाई बिल्कुल ठीक किया चाचा सरफराज ने कहा सब लोग लाले के शिमले को देख रहे थे वो शिमला भी मैंने इसे पहनाया था सरफराजे तेरी इज्जत की खातिर चाचे ने कहा फिर दिलचस्पी से सरफराज की जानब झुक कर बोला कर नैर भी देख रहे थे सब लाले को देख रहे थे सरफराज हंस कर बोला देख ले चाचा अहमद फखरिया एजाज से मुखातिब हुआ मैं ना कहता था टिश निकाल के जा सरफराज का सर ऊंचा होगा गांव का एक एक आदमी सरफराज से मिलने के लिए आया दो दिन के बाद जब फरागत का लम्हा आया तो एजाज ने बात की सरफराज का जवाब सुनने से पहले ही एजाज को महसूस हो चुका था कि अब वक्त वाक़ता बदल चुका था सरफराज जो कभी उसकी बात को ना पलटता था अब समझ और सोच कर तसली और हौसले से सर उठाकर जवाब देता था जैसे उसके आगे दुनिया जहाँ का वक्फा हो और दिल में जवाबदेही की कोई बेताबी ना हो अभी तो छः साल तक मैं शादी ही नहीं कर सकता लाला सरफराज ने कहा क्यों फ़ौज का कानून है या छः साल की सर्विस मुकम्मल हो या छब्बीस साल की उम्र इससे पहले ना शादी की इजाज़त मिलती है ना मैरिड रिहाइश ना अलाउंस तुझे रिहाइश और अलाउंस की क्या ज़रूरत है एजाज ने कहा तेरा अपना घर है पैसे धेले का अल्लाह का फजल है सारा खर्चा मैं करूँगा सारा खर्चा करोगे सरफराज ने शरारत से मुस्कुरा कर पूछा हाँ एजाज ने जवाब दिया सरफराज कुछ बोले बगैर मुसलसल मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा तो एजाज को उसका मतलब खटक गया देख सरफराज वो बोला मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो लोग मुझे कंजूस आदमी समझते हैं मैं कंजूस नहीं हूँ किफ़ायत शार हूँ आज मैं चंद लफ्ज़ों में तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ एजाज की आवाज़ एक लम्हे को भर आ गई उसने खांसकर गला साफ किया उठकर नाक सिनकी और चादर के पल्लू से मुंह पहुंचा मैंने गुर्बत देखी ठीक है रोटी पेट में जाती रही है मगर फाका कशी से बड़ी गुर्बत की सूरतें होती हैं मैंने हिजरत और माँ की मौत एक साथ देखी है यह गुर्बत का एक बड़ा मुकाम है तू खुशकिस्मत है ना हिजरत देखी ना माँ की खबर हुई मज़ीद खुशकस्मत है कि तेरा और पाकिस्तान का इकट्ठा जन्म हुआ खुशियाँ मनाई गई मेरी उम्र में एक से एक कड़ा इम्तहान आया है मैं तुझे बताता हूँ सबसे बड़ी गुर्बत ज़िल्लत की गुर्बत होती है ना ताकती की गुर्बत ज़्यादती के सामने बेज़्यादती की गुर्बत समझो कि यह गुर्बत का सदर मुकाम है पेट का खला कभी ना कभी भर जाता है ज़िल्लत के दाग मरते दम तक सीने से नहीं उतरते मैंने अपने दिल से वादा किया था कि दुनिया इधर की उधर करनी पड़े मगर अब मुझे कोई जलील नहीं करेगा तुझे पता है अब मैं घर बैठकर खा खिला सकता हूँ मगर मैंने गरीबों मज़दूरों के साथ बैठना नहीं छोड़ा वो मेरी इज्जत का सबब हैं साथ अब जेब में चार पैसे भी आ गए हैं ऊंची जगह हो या नीची बराबरी का दर्जा मिलता है मैं कंजूस नहीं हूँ ज़रा सोच समझ कर गांठ खोलता हूँ जेब में रकम हो तो दिल में गर्मी रहती है एक मिनट सब्र करो तुम्हें दिखाता हूँ एजाज उठकर घर के अंदर गया और चंद मिनट के बाद वापस आया उसके हाथ में बैंक की किताब पकड़ी थी ये देख वो वरक उलट कर दिखाने लगा फिर उसने आखिरी सतर पर उंगली रखी ये रकम इस वक्त जमा है इसमें आधी तेरी है जिस वक्त चाहो ले सकते हो मेरे नज़दीक हसन हुसैन से पहले तेरा हक है ना ना लाला ये तेरी कमाई है ज़रूरत हुई तो मांग कर ले लूँगा मगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि रुपये पैसे का अल्लाह का फजल है तो फिर कुछ अपने ऊपर भी खर्च करो घर बार की हालत को क्या है ठीक ठाक है कहाँ ठीक ठाक है जब से मैंने होश संभाला है उसी कच्चे मकान में रह रहे हैं जो अब्बे ने बनाया था आज तक सहन में ईंटें तक नहीं लगवाई बारिश होती है तो कीचड़ की वजह से कदम नहीं उठता मकान पक्का कराओ ऊपर चौबारा बनवाओ बाहर वाला कमरा गिरा कर नया बनवाओ दरवाजे खिड़कियाँ नहीं लगवाओ रोगन सफ़ेदी कराओ कुछ पता भी चले कि अल्लाह का फजल है खाली कहने से क्या होता है ठीक है एजाज ने कहा ईंटें लगवा दूंगा हम्म, हम्म सारा मकान पक्का बनवाओ तुम कहते हो आधे पैसे मेरे हैं मेरे हिस्से के सारे लगा दो तेरे पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा अपने पैसे से सब कुछ बनाऊंगा चलो जैसे भी बनाओ बनाओ तो सही बना दूंगा करनैल साहब बना दूंगा सकीना चेहरे पे मुस्कुराहट लिए पुरतहसीन नज़रों से सरफराज को देख रही थी सरफराज ठीक ही कहता है वो बोली आए गए की नज़रों में भी इज्जत होती है तिलक बरादरी वाले आते जाते रहते हैं अब तूने चूड़ियों के बाद मकान पर भी सरफराज से गठजोड़ कर लिया है एजाज ने कहा क्यों नहीं सब कुछ बना सकते हो अभी तो सरफराज की बीवी के लिए भी कड़े और हार बनवाऊंगी बीबी पहले मुझे सरफराजा कहना तो छोड़ो तो क्या अब तुझे लफ्टैन साहब कहूँ नहीं सरफराज हंसा सरफराज कहो और शादी का जिक्र छः साल से पहले ना करो वो बैठे बातें ही कर रहे थे कि सखी मोहम्मद गुजर दरवाजे में दाखिल हुआ सखी मोहम्मद की उम्र सत्तर से ऊपर थी और मुंह में एक तांतना था सलाम दुआ के बाद वो सहन में आकर चारपाई पर बैठ गया एजाज ने बैंक की किताब जेब में रख ली मलक जाज तो बड़ा आदमी है सखी मोहम्मद बोला मेरा इंसाफ करा दे तो सारी उम्र मेरे ऊपर तेरा आसान रहेगा सरफराज सखी मोहम्मद के पुराने किस्से को याद करके दिल ही दिल में हंसा बीस बरस पहले सखी मोहम्मद के फूफीजाद भाई वज़ीर मोहम्मद ने बेटी का रिश्ता देने के वादे पर सखी मोहम्मद से छः बकरियां ली थी बाद में सखी मोहम्मद के बेटे को कत्ल के मुकदमे में बारह साल कैद की सज़ा हो गई उसकी गैर मौजूदगी में वज़ीर मोहम्मद ने बेटी को दूसरी जगह पर ब्याह दिया उस दिन से सखी मोहम्मद अपनी बकरियां वापस लेने का दावेदार था तेरा मामला टेढ़ा है महर सखी एजाज ने उससे कहा इतना ज़माना गुजर गया ज़माना गुजर गया है तो क्या हुआ मैं तो नहीं गुजरा मलक जाज बेटियां तो अल्लाह वास्ते दी जाती हैं मगर वज़ीर ने मदद मांगी मैंने बकरियां दे दी महर सखी एजाज सबर से बोला वज़ीर भी मर गया मुराद कैद काट कर आया और दो साल के बाद वो बीमारी से अल्लाह को प्यारा हो गया तेरी बकरियां भी मर गईं अब तूने क्या लेना है और क्या देना है जाज मेरी बकरियों की नस्ल उसके घर में चल रही है महर सखी बारह तेरह साल में तो ज़मीन भी कब्ज़ादारों की हो जाती है ज़मीन तो जाज कब्ज़े वालों की होती है पर यह ज़बान की बात है मुंह की बात कभी नहीं मरती वो जबान करके फिर गया था तो क्या वो अपनी बेटी को बारह साल तक घर में बिठाए रखता तीन चार बार तो पंचायत फैसला कर चुकी है वज़ीर ने अपनी ज़िंदगी में कुरान उठा लिया था कि बकरियाँ मुराद के जेल जाने से पहले बीमारी से मर गई थीं गवाह भी हाजिर हो गए थे अब बाकी क्या रह गया है अब बाकी वज़ीर का कज़ब रह गया है एजाज सारे शहर को पता है गवाह झूठे थे और बकरियाँ मुराद के जेल जाने के बाद बच्चे देकर मरी थी आज वज़ीर के घर में मेरी बकरियों का इज्जड़ बन गया है वज़ीर के लड़के अमीर हो गए हैं ये मेरी दौलत है ये देख सखी मोहम्मद ने चादर के कोने की गांठ खोली और एक बोसीदा कागज़ निकाला जिसकी तहें उसने अजहद एहतियात से खोली बारह महीने पहले मैंने हिसाब करवाया था अठहत्तर हज़ार की रकम बनती है एजाज और सरफराज पहले कई बार ये कागज़ देख चुके थे जिस पे किसी ने तिफलाना लिखाई में रकमों की जमा तफरी की हुई थी और जो बारह महीने की बजाय कई साल पुराना था सखी मोहम्मद इसे हमेशा बारह महीने पहले का हिसाब बताता था पुर्जा देकर एजाज और सरफराज दोनों हंस पड़े अब तू कहेगा कि बकरियों का बीस साल का दूध भी तेरे हिस्से में आता है एजाज ने कहा दूध मैं उनको छोड़ चुका हूँ सखी मोहम्मद संजीदगी से बोला वो उनकी किस्मत सरफराज ये मुकालमा कई बार सुन चुका था वो उठ खड़ा हुआ मैं ज़रा बाहर से होकर आता हूँ उसने कहा वो दरवाज़े से बाहर जा रहा था कि उसने एजाज को कहते हुए सुना जो पट्ठे बकरियों ने खाए हैं वो हिसाब से नफ़ी किए हैं सखी मोहम्मद अपने दूसरे बेटों बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहता था उसकी दस किले ज़मीन थी जिस पे उसके दो बेटे काश्त करते थे और साथ डंगरों का कारोबार भी चलाते थे तीसरा बेटा दस जमातें पास करके शहर में क्लर्क हो गया था इन लड़कों की वज़ीर मोहम्मद के बेटों के साथ कोई दुश्मनी ना थी मगर सखी मोहम्मद को और कोई काम ना था दिल में उसे इल्म था कि बकरियां या अठहत्तर हज़ार की रकम मिलने का कोई इम्कान ना था मगर वो हर रोज़ गांव के एक ना एक मोतबर आदमी के पास जा बैठता और अपने दावे की दास्तान दोहराता था इसके बेटे उसे ये किस्सा करने से मना करते थे मगर सखी मोहम्मद किसी की बात ना सुनता था उसकी ज़िंदगी में अब यही एक शुगर रह गया था सरफराज चलता चलता दूर निकल गया उसके दिल के साथ एक नागहानी वाक़ पेश आ चुका था गाँव आते आते वो शुएब के घर पे एक रात को ठहर गया था वो नसीमा से उसकी तीसरी बार मुलाकात हुई अब नसीमा की शक्ल उसके दिल से ना उतरती थी मामूली सी खुद बुद की ये कैफियत एक जज्बे की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी उसका बदन एक ताज़ा हल चले हुए खेत की मानिन था जिसकी नालियों में पानी के धारे एक जर्रे से दूसरे को सराहियत करते जा रहे थे मगर जज्बे के ये सोते उसकी सरजमीन को सराब करने के बजाय एक जंजीर का सिरा उसके हाथ में पकड़ाते जा रहे थे जिसका दूसरा सिरा नज़र से मुस्तकिल ओझल था दिल ही दिल में कसमसाता हुआ वो खेतों खेत चलता गया एक जगह पे बैठकर उसने लम्हा भर को आंखें बंद की तो उनके पर्दे पर नसीमा का चेहरा यूं दिखाई दिया जैसे बरसों की मेहनत से खोदा गया हो गो तीन दिन पहले सरफराज ने उसकी जानब ध्यान भी न दिया था वो घर लौटा तो सखी मोहम्मद जा चुका था उसे देखते ही हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए सरफराज ने दोनों को उठाने की कोशिश की ओह वो ज़ोर लगाते हुए बोला फिर उसने हार कर एक को छोड़ दिया ना भाई ना अब तुम बड़े हो गए हो एक एक करके एक एक करके आओ एजाज सकीना और चाचा अहमद बैठे बातें कर रहे थे भई सरफराज एजाज बोला अब्बास का कुछ ना कुछ तो करना है चाचे को बड़ी फिक्र है हाँ बच्चू चाचे ने कहा उसका ख्याल कर बॉर्डर से इधर उधर जाता आता रहता है इसे चस्का पड़ गया है मगर तुझे पता है ये काम बड़ा ख़तरनाक है मैं कहता हूँ किसी सरकारी नौकरी पर लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बच जाए फ़ौज में सिपाही हो सकता है चाचा सरफराज ने कहा मैं उसको भर्ती के दफ्तर की तरफ रुका लिख दूंगा सेहत वाला है आसानी से हो जाएगा तेरी बड़ी मेहरबानी सरफराज चाचे ने कहा पर फौज में तो पिशोर और कोटे और पता नहीं किधर किधर भेज देते हैं फिर अल्लाह रखा होता है साल के बाद दो चार दिन की छुट्टी मिलती है तो मुंह देखना नसीब होता है तेरी मासी तो विछोड़े से मर जाएगी मेरी उसको कोई फिक्र नहीं मैं चाहे सारी उम्र इधर बैठा रहूं मेरा नाम भी नहीं लेगी पर अब्बास एक दिन भी उसकी आंख से परे हो जाए तो रोने लगती है चाचा नाम तो तेरा मासी तेरे सामने भी नहीं लेती सरफराज हंसकर बोला मैं कहता हूँ अगर पुलिस वुल्स में हो जाए तो बेहतर है अपने आसपास रहेगा पुलिस के महकमे में मेरा कोई दखल नहीं चाचा वाह भाई वाह फौज का राज है तेरी बात कौन मोड़ेगा कप्तान शप्तान पुलिस में भी लगे हुए हैं किसी से कह कलवा कर लगवा दे वर्दी पहनेगा तो शौक में आकर इस खतरनाक काम से हट जाएगा मेरी मानो तो चाचा फौज में ही करवा दो कुछ ना कुछ पड़ा हुआ भी है अगर लगा रहा तो तरक्की करके हवलदार जुम्मेदार सूबेदार तक जा सकता है बड़ी अथॉरिटी होती है सहूलतें भी मिलती हैं अथॉरिटी तो असली तेरी है सरफराज चाचा बोला अपने तीन चक्कों में कोई तेरी पोजीशन को नहीं पहुंचा। हमारा शिमला ऊंचा हो गया है एक दिन जर्नैल बन जाएगा राज करेगा बस कोशिश करके पुलिस में ही लगवा दे अल्लाह भला करेगा तेरी यही जिद है तो पूछ गिछ करूँगा चाचा मगर वादा नहीं कर सकता चाचा और एजाज बातों में लग गए तो सरफराज उठकर अपने कमरे में चला गया ये कमरा सरफराज के लिए मखसूस था चाचा अहमद आता तो अमूमन डेरे पर सोता था मासी या जमीला जब आती तो सरफराज की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में हसन को साथ लेकर सोती थी जो उनका चहीता था हसन का रंग गहरा गंदमी और तबीयत मीठी थी हुसैन गोरा चिट्टा खुश शक्ल मगर गुस्सीला बच्चा था अपने माँ बाप के काबू में भी ना आता था और हसन के साथ तो वो हर वक्त भिड़ता और उसे मारता पीटता रहता था घर के लोगों में सिर्फ दो ऐसे थे जिनकी बात वो मानता था एक मासी और दूसरा सरफराज सरफराज के कमरे में पानी की चिलिमची मंगवा कर रखी गई थी जो उसके पीछे तो खाली रहती मगर जब वो आता तो आधी सतह तक भर दी जाती थी सरफराज ने कभी उसे इस्तेमाल ना किया था नहाने धोने पीने और पिलाने के लिए वो बाकी घर वालों की तरह नलके से काम लेता था इसके बावजूद सकीना हर रोज़ पुराना पानी गिरा कर चिलमची को ताज़ा पानी से भर दिया करती थी कमरे में निवाड़ के पलंग और बिस्तर के अलावा दूसरी तरफ एक मेज़ और कुर्सी बिछी थी मेज़ पर शीशे का जग और गिलास पड़े रहते थे सरफराज के क्याम के दौरान चिलिमची की मानंद जग में भी रोज़ाना पानी बदला जाता था हर छोटे बड़े को जो सरफराज के बाद वक्ता फवक्तन कमरे में सोता सख्ती से हिदायत थी कि कोई शय ख़राब या मैली ना होने पाए सरफराज कमरे में दाखिल होकर मेज़ कुर्सी की जानब जाने की बजाय खिलाफ मामूल चिलिमची के पास जा खड़ा हुआ पानी इस्तेमाल करने का उसका कोई इरादा ना था वो घुटनों पे हाथ जमाए झुक कर खड़ा इन हमाक से पानी की बेहरकत सतह पर अपनी सूरत के अक्स को देखता रहा गोया कोई अहम काम कर रहा हो उसका जहन खाली था वो यूं महसूस कर रहा था जैसे हवा में मोलक हो ताम चीनी की सफ़ेद चिलिमची में पानी का वजूद बेरंग था मगर उसके अंदर अपना चेहरा उसे साफ दिखाई दे रहा था उसने हाथ उठाकर सर पर फेरा और कान के ऊपर बाल सीधे किए जो खेतों की हवा ने उड़ाकर बेतरतीब कर दिए थे सरफराज ने कई बार ज़मीन पर खड़े पानी में अक्स देखा था मगर उसको कभी ख्याल ना आया था कि उसका चेहरा ज़मीन की सतह से कहीं नीचे दिखाई दे रहा था जैसे उसके अंदर दफन हो और जीता जागता भी हो उसने चेहरे को दो इंच एक जानब को सिरकाया और रुक गया फिर दूसरी तरफ हिलाया फिर सर को आधा मोड़कर अपने चेहरे का एक तरफा नज़ारा किया कुछ देर के बाद इस खेल से उकताकर उसने कमर सीधी की तो उसका चेहरा ज़मीन में धसता चला गया ये देखकर वह मुतद बार झुका और फिर सीधा खड़ा हुआ ये एक रोज़मर्रा की बात थी मगर उस वक्त जब उसके जहन की खिड़कियाँ बंद थीं और वो उनके पट खोलने की काविश में था चमकीली सतों का ये शराब उसके एहसास में इस तरह दाखिल हुआ जैसे पहली बार इल्म के दायरे में आ रहा हो इस नीम हैरत ज़दा हालत में वो जाकर बिस्तर पर सीधा लेट गया जहन के एक पट की दर्द से कुछ लो लगी तो उसने सोचा मेरी उससे कोई ख़ास बात तो हुई नहीं आँख की तार तक नहीं जुड़ी ना कोई इशारा मिला ना निशान हाँ मेरे नाम की उसको पहचान है मेरी शनाख्त अपने भाई शुएब के दोस्त लेफ्टिनेंट सरफराज के तौर पर करती है मगर मुझे ये तक इल्म नहीं कि क्या वो मेरे वजूद से भी बाखबर है मैं क्या कर सकता हूँ उन दोनों को यहाँ मदू तक नहीं कर सकता नसीमा के उस टूटी हुई गलियों वाले गांव में आने का ख्याल करके सरफराज का दिल बैठने लगा ये ख्याल गोया एक खून खार दरिंदे की मानंद था जो उसके दिल पे हमला करने को तैयार बैठा था ज़िंदगी में ख़ास हद तक कामयाबी और अतमाद हासिल करने के बाद पहली बार सरफराज को अपने बेबजाती का एहसास हुआ इस ख्याल को समेटने के लिए उसने अपने आप को एक खेल में मशगूल कर लिया जो वो अक्सर कड़े वक्तों में खेला करता था इस खेल का असूल ये था कि ख्याल के अंदर हाजिर हकीकत की बजाय एक अलग और बरक्स हकीकत की तश्कील की जाए इस तस्वर को किसी मामूल की असलाह जैसे खुश आइंदा ख्याल से बयान करना दुरुस्त नहीं था क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत थी जो सरफराज के अंदर हकीकत हाल की नस्बत ज़्यादा हकीकी तौर पर वजूद में आती थी इस खेल को उसने बचपन में ऐजाद कर लिया था जब उसकी अपनी निगाह में दुनिया की चीज़ें दूर और नज़दीक आती और जाती हुई दिखाई देने लगी थी फ़ौज की दो बरस की ट्रेनिंग के दौरान वो अपनी अजूबा नज़र को बड़ी हद तक जब्त के दायरे में ले आया था और अब उसे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता था ये उसके जागते ख्वाब थे जिन पे उसका इख्तियार था इस वक्त चारपाई पर लेटे लेटे उसने आंखें मीच ली और अपनी मर्जी के मुताबिक एक मंजर देखने लगा सरफराज के सामने अब माँ दुनिया का नक्शा बदल गया था उनका घर सहन समेत ईंटों और सीमेंट का बन गया दीवारों पर सफ़ेदी हो गई गांव की गलियां पक्की हो गई और उनमें नसीमा चलने फिरने लगी वो घर में दाखिल होकर सहन में बिछी हुई मेज़ कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गई और हाथ में पकड़ा हुआ अखबार खोलकर पढ़ने लगी वो टांग पे टांग रखे बैठी थी मगर उसकी कमर सीधी थी और अखबार दोनों हाथों में फैला था दुबट्टा सर से ढलका हुआ था ये उसका वही अंदाज था जिसमें सरफराज ने आखिरी बार उसे देखा था ये सब अवामिल खटा खटा करके गोया अपने अपने खानों में बैठते चले जा रहे थे और सरफराज के दिल में वक्त की तंगी का एहसास नापैद होता जा रहा था एक वसी और रीस दुनिया उसके सीने में समाती जा रही थी जिसके मुमकिनात की कोई हद ना थी इस वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे सरफराज का जहन इन आरामदेह थपकियों के असर से खामोश होता चला गया उसने दरवाजे पे खटका महसूस किया मगर अपनी जगह से हरकत ना की चाचा हुसैन ने पूछा बीबी कहती है रोटी कब खाओगे सरफराज ने आंखें खोले बगैर हाथ उठाकर इशारे से मना कर दिया उसके अज़ा पे नींद तारी हो रही थी राहवाली और गोजरावाला के दरमियान सरफराज के बरगेट का पड़ाव पड़ा रहता था एक वसी चटील मैदान में खेमों का शहर बसा था जिसके गिर्द सिर्फ दो खारदार तारों की बाड़ बांधी गई थी और जरनैली सड़क के किनारे पे लकड़ी और लोहे का आर्जी गेट बना हुआ था गेट पे इन्फेंट्री ब्रिगेड के नाम का बोर्ड नसब था सपहर के वक्त अब्बास कप्तान मलक सरफराज अवान का पता पूछता पूछता सरफराज के खेमे तक पहुंच गया उसने पहले जब सरफराज के पास गेट से मोहम्मद अब्बास अवान का पैगाम पहुंचा तो उसने दाखिले की इजाज़त भेज दी थी यार मैं अभी कप्तान नहीं बना लेफ्टिनेंट हूँ और वो भी अभी बना हूँ गले मिलने के बाद सरफराज ने हंसकर कहा और ना ही चौधरी और अवान शवान कहलाता हूँ इधर मेरा नाम लेफ्टिनेंट मोहम्मद सरफराज है बैठो बैठो तुम इस वक्त किधर यहाँ आ निकले हो इतला ही कर दी होती गेट पर ज़्यादा देर रुकना तो नहीं पड़ा आधा घंटा टेलीफोन की संदूकची का हैंडल घुमाते रहे यार ये टेलीफोन किस तरह के हैं हमारे फील्ड टेलीफोन इस तरह के होते हैं कोई कप्तान सरफराज था उसने मेरी बात कराई अब्बास ने कहा वो चीचा वतनी का चीमा निकला उसने मुझसे तेरा हुलिया पूछा तो गेट वाले सार्जेंटों से बात की तू कप्तान कब बनेगा अभी दो साल इंतज़ार करना पड़ेगा क्यों अब्बास ने पूछा यही कानून है तू अगर पुलिस में हो गया तो क्या सीधा थानेदार लग जाएगा गांव में तो तुझे कप्तान ही कहते हैं गांव की क्या बात है सरफराज हंसकर बोला चाचा तो कल परसों तक मुझे जर्नैल बना देगा अब्बा कहता है पुलिस में भर्ती की तूने किससे बात की है पुलिस में मेरी कोई वाकफियत नहीं टालने के लिए चाचे से कह दिया था कि पूछ गिछ करूँगा तू क्या वाकई पुलिस में जाना चाहता है मैं कब चाहता हूँ अब्बा हर वक्त मेरे मुंडे पर चढ़ा रहता है मैं तो खुश हूँ आज़ादी से आता जाता हूँ किसी का जवाब दे नहीं ताल्लुकात बन गए हैं पैसा कमाता हूँ बस अब्बा मेरी जान खाता रहता है कहता है इस काम में ख़तरा है हाँ सरफराज खुलकर हंस पड़ा ये काम ख़तरनाक है अब्बास ने भी हंसते हुए खेमे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई एक जानी चारपाई पर बिस्तर लगा था सात कोने में मेज़ रखी थी एक अटैची केस मेज़ के ऊपर और एक बक्स मेज़ के नीचे रखा था खेमे के दरमियान में एक नीची सी तपाई और उसके गिर्द तीन आरामदेह कुर्सियाँ रखी थी फर्श पे दरी और उसके बीच मुख्तसर सा कालीन था दूसरे कोने में स्त्री की हुई वर्दी अपने फ्रेम पर छत से झांकती हुई एक सलाख से लटकी थी एक तरफ लकड़ी का मोटा सा पॉलिश शुदा डंडा चार पैरों पर खड़ा था जिसके चारों तरफ छोटी छोटी सींग नुमा खूंटियाँ लगी थी दो कमीज पतलून एक चमड़े की पेटी और दो तीन टाइयाँ इन खूंटियों से लटक रही थी नीचे एक कितार में चमकते हुए काले फौजी बूट आम पहनने वाले बूट एक दो चप्पलों के जोड़े रखे थे ये तेरा कमरा है अब्बास ने पूछा हाँ सरफराज ने हंसकर जवाब दिया ये मेरा कमरा है आराम से बैठ अकड़ा हुआ क्यों बैठा है कोई है सरफराज ने सर मोड़कर अचानक बाहिर को आवाज़ दी जिससे अब्बास चौंक पड़ा एक आध मिनट तक इंतज़ार करने पर जब कोई नमोदार ना हुआ तो सरफराज ने पूरे ज़ोर से दोबारा आवाज़ दी अरे कोई है साथ ही एक सिपाही खाकी पतलून कमीज़ में मलबूस उजलत से खेमे का पर्दा उठाकर दाखिल हुआ सर वो बोला ठंडे पानी का गिलास लाओ सरफराज ने हुक्म दिया सर सिपाही जवाबन बोला और उल्टे पाओ बाहर निकल गया अब्बास ने पुश्त कुर्सी से लगाई और टांगे फैलाकर बैठ गया सरफराज ने उस पर एक गहरी नज़र दौड़ाई और हंसकर बोला बासे तूने पतलून कब से पहननी शुरू की है अब्बास झीप कर हंस पड़ा शुरू कहाँ की है आज पहली दफ़ा चढ़ाई है अब्बे ने ज़ोर से चढ़वा दी है कहता था पैंट चढ़ा कर ना गए तो जाने नहीं दूंगा सिपाही मशरूब ले आया दो लंबे लंबे चौड़े मुंह वाले स्टेनलेस स्टील के पॉलिशुदा ग्लास जो देखने में चांदी के बने हुए मालूम होते थे इसी तरह की चमकती हुई ट्रे में धरे थे गिलास सब्ज रंग के केले के शरबत से तीन चौथाई सतह तक भरे हुए थे मशरूब के अंदर बर्फ दिखाई ना देती थी मगर इतना ठंडा कि गिलास की बैरूनी सतह पर मुंजमद बुखारात के कतरे लकीरें बनाते हुए बह रहे थे अब्बास गिलासों को देखता रह गया उसने ऐसे खुश शक्ल उभरी हुई खमदार कमर और तंग पैंदे वाले चांदी के गिलास पहले कभी ना देखे थे चल पी गला गीला कर सरफराज अपना गिलास उठाकर घूंट भरते हुए बोला अब्बास ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया गोया गिलास का अदब उसके रस्ते में माने हो फिर होंठों से लगाकर छोटा सा घूंट लिया और गिलास को होले से वापस ट्रे में रख दिया पी पी यार क्या बिटर बिटर देख रहा है सरफराज ने एक नीले रंग के रेशमी से कपड़े का ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था जिसके नीचे उसके जिसम पर जांगिये के सिवा कुछ ना था वो बार बार ढलकते हुए गाउन को समेटता हुआ दिल में इस बात पे महजूज हो रहा था कि चादर कुर्ते या शलवार कमीज से भी ज़्यादा पतलून के अंदर अब्बास को देखकर उसकी नज़र ज़बरदस्ती अब्बास की रानों के बीच चली जा रही थी जहाँ तंग आसन में पिसते हुए आलाय तनासुल एक तोदे की शक्ल में दिखाई दे रहे थे और जिन्हें अब्बास बार बार ढीला करने की नाकाम कोशिश कर रहा था सरफराज को अब्बास पे तरस आने लगा फिर तुझे कितनी देर लगी सरफराज ने पूछा इधर पहुंचने में नहीं पहन पहन कर चलने में दोनों हंस पड़े अब्बास ने एक धप सरफराज की रान पे जमाया यार अब्बे का फहम कुछ उखड़ता जा रहा है क्यों कहता था पैंट के बगैर फ़ौज के अफसर से मुलाकात नहीं करने देते हाँ पैंट के बगैर तो रोक ही देते हैं सरफराज संजीदगी से बोला अच्छा हाँ कुछ ना कुछ तो पहनकर आना ही पड़ता है अब्बास ने हंसकर एक और धप सरफराज के कंधे पर जमाया वैसे शलवार कमीज में कोई हर्ज नहीं सरफराज ने कहा यूं तो चादर कुर्ते में भी मुलाकाती आते जाते हैं मगर ज़रा दूसरे फौजियों की नज़रों का सामना करना पड़ता है यार सरफराज अब्बास बोला एक काम करा दे क्या अब्बे को कह दे मुझे उधर ही लगा रहने दे खतरनाक काम है ना यार मजाक ना कर ठीक ठाक माल कमाता हूँ मेरा दिल लगा हुआ है ये देख अब्बास ने जेब से एक खूबसूरत सी डबिया निकाली ये क्या है सरफराज ने पूछा तेरे लिए लाया हूँ अब्बास बोला और ढकना उठाकर डिबिया मेज़ पर रख दी अंदर एक आला दर्जे के विलायती इतर की शीशी थी सरफराज ने मजाकन आंखें फाड़ कर शीशी को देखा उठाकर एहतियात से उसका ढकना खोलकर इतर को सूंगा तारीफन आईब्रो उठाकर अब्बास को देखा और ढकना बंद करके शीशी को वापस डिबिया में रख दिया जो कुछ भी चाहिए मुझे बता अब्बास ने फ़खरिया कहा मैं पैदा करके ला सकता हूँ मुझे रिश्वत दे रहा है ऐसी बात ना कर सरफराज तू मेरा भाई है रिश्वत तो गैरों को दी जाती है पुलिस में मैं क्या करूँगा वर्दी चढ़ाकर हाथ में सीटी दे देंगे और किसी अफसर की कोठी के बाहर दरवाजे पर खड़ा कर देंगे अब्बा तो पुराने ज़माने की बातें करता है उसे क्या पता कि मेरा काम अब कितना बड़ा हो रहा है अब्बा उस वक्त काम किया करता था जब लाले के अखरोट और नेज़े और अदरक वदरक इधर उधर आती जाती थी किसी ने बड़ा हाथ मारा तो सोना लाने ले जाने लगा मैं तो अब इधर उधर के चक्कर से ही निकल रहा हूँ ये कोड़ियों का खेल है मेरा हाथ अब ऊंचे कामों तक पहुँचने वाला है वलैत का माल इधर उधर का माल वलैत को इतरों और घड़ियों से लेकर फ्रिजों और टीवियों तक की तजारत है और अब्बास राजदारी से आगे झुक कर बोला ऐसा माल भी है जो सोने और कुंदन से दस दफ़ा ज़्यादा पैसा देता है अच्छा अच्छा आवाज़ कम करके बात कर यार सरफराज जल्दी से बोला तू फौज के गढ़ में बैठकर ऐसी बेकानूनी की बातें करता है रिपोर्ट हो जाए तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा चल कोई और बात कर बस फिर अब्बे से कह दे कि तूने कोशिश करके देख ली है पुल्स में मेरे लिए कोई जगह नहीं ठीक है शरबत तो ख़त्म कर बातें ही किए जाता है मैं मैस से जाकर नहा आऊँ फिर तुझे कैंप की सैर कराता हूँ सरफराज अब्बास ने पूछा तुझे सलूट भी लगते हैं हाँ हर जगह पर अभी तुझे दिखाता हूँ बस अपनी बकबक ज़रा बंद कर मगर उस रोज़ अब्बास के रुखसत होने से पहले ही सरफराज ने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि उससे जितनी भी कोशिश हो सकी वो अब्बास को पुलिस में भर्ती करा के ही रहेगा उसके सामने अब्बास की ज़िंदगी के अलावा खुद अपने करियर का सवाल था कि उसका नाम किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार के साथ मुंसलिक ना हो जो जल्द या बदेर कानून की गिरफ्त में आ जाए वो अब्बास को अलविदा कहकर वापस अपने टेंट को लौट रहा था कि मेस से एक सिपाही भागता हुआ आया टेलीफोन है सर उसने सल्यूट करके सरफराज से कहा सरफराज रुख बदल कर तेज़ तेज़ कदम भरता हुआ बोला किसका है खबर नहीं सर सिपाही ने पीछे पीछे चलते हुए जवाब दिया सार्जेंट अकरम ने रिसीव किया है लाहौर से शुएब का फ़ोन था मेरा कार्ड तुझे नहीं मिला सरफराज ने हाल अहवाल पूछने के बाद कहा एनी वे हैप्पी बर्थडे यार मुश्किल पड़ जाएगी सैटरडे नाइट गुड मगर स्टेशन लियो सरफराज ने रिसीवर के आगे हाथ रखकर आवाज़ नीची कर ली कर ली असगर का तुझे पता है इस मामले में स्टिंकर है okay okay try my best चंद मिनट मज़ीद बात करके उसने फ़ोन रख दिया जब वो वापस अपने टेंट में पहुंचा तो उसका दिल फैल कर सीने में न समाता था और जहन में ऐसी उड़ान थी कि जैसे उसके सर में सिर्फ ऑक्सीजन भरी हो अब सिर्फ उसके सामने अपनी कंपनी कमांडर करली असगर से जो सर से गंजा था स्टेशन छोड़ने की इजाज़त लेने का मसला था मगर इस वक्त सरफराज को यूं महसूस हो रहा था जैसे करली असगर की बजाय आगे कोई पहाड़ भी हो तो वो उसे अबूर कर जाएगा